विशेष रूप से जान सकता विद्वा सामान्य रूप से जानेगा जाने में कर सकते विशेष रूप में जान न सामान्य रूप से जान सकता हूँ न विशेष रूप से जान सकता हूँ तभी अनुमान कर लेता हूँ तो ये सारी इंद्रिया जिसके वजह से काम कर रही है उसी का नाम आत्मा है चंद ब्रह्मा मनाली कर्ण जातम अनुशिष्या अनुशासन कुरियात प्रवृत्ति निमित्तम वे तथा अभिषेक पात्र में क्योंकि ये जो ब्रह्म है कर्म समूह के द्वारा अनुशिष्ट नहीं हो सकता मैं मनाधिकरण जो है उनका विषय बना करके उनका पूरा जैसे घट के बारे में पूरा जानकारी ले लेते कितना लंबा है कितना चौड़ा है कितना गहरा है कितना मोटा है कितना वजन उसमें आ सकता है मार्गदर्शन कितना उसे भरेगा सारा आपको जानकारी मेरे ब्रह्म के बारे में ये कोई भी इंद्र आदि उस पर नाप तौल करके उसके बारे में समय प्रकार से अनुशासित अनुशिष्ट कर नहीं सकता वही तो कहते हैं न मना ये कारण जातम अनुशिक्षा अनुशासन क्रिया अनुशासन क्रिया का मतलब क्या यहाँ जो डंडे से अनुशासन करना कहते नहीं हुआ नहीं ना अनुशासन करना मतलब प्रवृत्ति निमित्तम भवित प्रवृत्ति का निमित्त हो जाए ऐसा तथा अंश लेकिन उस प्रकार से विषय न होने के कारण थे न महा न पूजा ये करते हो गया अनुशिष्य आपका इन्होंने कर दिया प्रवृत्ति का निमित्त इंद्रियों में प्रवृत्ति का निमित्त तो ब्रह्म नहीं है जिसे घट जो है इंद्रियों में प्रवृत्ति का निमित्त बन जाता है और प्रवृत्ति का निमित्त बन करके मन चला जाएगा वहां चक्षवाली के द्वारा और उस घट को विषय बना लेता उस प्रकार से प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म को नहीं समझिए आप इसमें कहा जाना ना सारे इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म है लेकिन प्रवृत्ति का निमित्त जैसा गड़बड़ा विषय है वैसे प्रवृत्ति का निमित्त मत समझे प्रेरकत्व प्रवृत्ति का निमित्त चेतनवान है ना घट भी प्रवृत्ति का निमित्त बन गया क्योंकि अपनी ही वासनाओं के कारण संभार क्या है इतने का अच्छा ज्ञाता होती है क्या चीज है तन मन जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाकर के विषय को ग्रहण करता है इसलिए मन को विषयों के ग्रहण करने के प्रति निमित्त कारण विषय भी है कई संसर्ग विजया कारण बन जाता है कई प्रतियोग विजया कारण बन जाता है अभाव ज्ञान के प्रति मन ने यहाँ घटाभाव उद्भूतम करके घटाभाव ज्ञान कर लिया कार्य घटाभाव ज्ञान के प्रति घट जो है प्रतियोगी विजया मन की प्रवृत्ति का कारण और हो जाओ में घट या मन की प्रवृत्ति के प्रति संसर्ग यदि कारण बनता है दो ही तरीके से होते हैं भाव स्थलों में संसर्ग भी गया और भाव स्थलों में प्रतियोगी भी गया विषय भी इंद्रिय प्रवृत्ति के प्रति निमित कारण होता है वैसे यहाँ पर नहीं है ये एक पक्ष वैसे ब्रह्म को बनाई प्रवृत्ति का निमित्त कहने का कारण कहने का मतलब कटाधिवत ये ब्रह्म भी है ऐसा न समझे इसे न तथा कर दिया तथा का जैसे घटा विषय होते हैं वैसे विषय नहीं हो सकता है और वह श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षण ब्रह्म श्रोत्रादियों का भी श्रोत रूपा कौन है ब्रह्म है विशेषण दर्शित उसको विशेष रूप से मुझे दर्शाओ ऐसे चेहरा जानना चाह रहा है जिसे गाय है आपने कागज में प्रिंट किया हुआ लिखा दिया लिखा दिया लिखा क्या होगा इसे लिखाओ वस्तु को दिखाओ तो आप उस बच्चे को ले जाओगे जहाँ गाय है वहाँ गाय है आपको बताना उसी प्रकार यहाँ पर शिष्य कहता है मुझे ब्रह्म को बताओ कहाँ है वो अगर की दिखाओ तो सड़कों के तो याद घूम जाए यार कोई दिक्कत नहीं भारत में किसी चीज का ध्यान होने कोई परेशानी आसानी से ज्ञान होगा विदेश में बड़ा मुश्किल होगा उनको समझाना बड़ा मुश्किल वो देखिए नहीं क्या करो अब नील गाय का दृष्टान देखिए पता ही नील राय क्या है जाएगा ही पता ही कहाँ है कैसे नहीं पता नहीं राय कैसे जीते थे है पता नहीं हमको क्या समझाओगे तो ये कार्य चित्र गरीब करते हैं बाकी चीजें बंद रही ये भी जो है खेती से आता होगा दूध चावल दूध बनाना या कुछ केमिकल से बना लेते हैं जैसे दवाइयां बन जाती है मुझे तो पता ही नहीं तो जो जानकारी और उनको तो गाय पता है पदार्थ उन लोगों को ज्ञान तो उनको पकड़ के दिखाना पड़ेगा जा करके ना ये देखो अमुक चीज है आपको कल जा रहना सरस देखा है तो जंगली पशु है और कहीं कहीं नहीं होता है बहुत ही कम है संसार में तो आपको पशु संग्रहालय गए ना कर तो जाना पड़े रहना सरस के देखो वहां उसी प्रकार यहाँ पर भी है कहते हैं हमको आत्मा को दिखाओ पकड़ के दिखा दो उसका सिंह है पूछ है कुछ हो हाथ हो पैर हो क्या आकार है उसका क्या रूप है उसका कैसा है वो वो हमको पकड़ के दिखा ये शिष्टाचार विशेष दर्श विशेष रूप में उसको दर्शन कराओ तो आचार्य आचार्य कहते हैं न सत्य दे दर्शम उसको दर्शाना संभव नहीं है वो अपने आप हो जाएगा दर्शन अलग है नहीं वो स्वात्म रूप में ही उनका दर्शन होगा आता तो और दृष्टा भी आपका दर्शन करो देखना चाहिए दिखाओ कहते तो देखने लायक नहीं है ये कैसी तो बात है उल्टा उल्टा चल रहा है ना मामला एक दौड़ कर उसको देखो देखना चाहिए यही जिंदगी का मुख्य लक्ष्य है आत्मा हमारे हाँ देखना चाहिए अगले कहते हैं देख नहीं सकते ना उसको दिखा सकते अकस्मात इसने पूछ रहा है गुरु शिष्य नहीं दिखा सकते आप मैं तो है ही हूँ तो खपुष्प है वंध्या पुत्र है इसलिए आप दिखा नहीं सकते हैं तत्व तो तब का बता दिया बात ऐसा है लोच खपुष्प आदि के समान भी नहीं है और घटाली के समान भी क्योंकि वहां चक्षरा इंद्रिया पूर्व सर्वम मत जो विशेष है पूर्व सर्वम मत फिर विशेष तू तो? अगर तो विशेष यथा एक जन शिष्या आदि थी क्या फर्क यथा ये यथा एक जन शिष्या इतने साकार बदलेंगे पहले क्या क्या था तद ब्रह्म तेतस यथा तेतस ब्रह्म अनुशिष्या विषयी कुरिया ये कहते प्रवृत्त होकर के विषय करते हैं अतएव मन प्रवृत्ति का संसर्ग विधया संसर्ग विधया विषय बन करके ब्रह्म निमित्त कारण है ऐसा न विधवा न विधान इस प्रकार का अन्वय पहले किया था एक पक्ष और दूसरा पक्ष में यहाँ ज्ञान करें रहे थे अनुशिष्या प्रतिपादन शिष्या कर दिया करूंगा प्रवृत्ति वहां पर क्या था निमित्तम भवे प्रवृत्ति निमित्तम भवे यह क्या था शिष्या के लिए अब अनुशिषा का क्या कर रहे हैं प्रतिपादी इसका मतलब अन्योपि शिष्यान तो अन्य विधिना इत्युक्ताया अन्योपि शिष्यान तो अन्य विधिना इत्युक्ताया अन्य विधिना अन्योपी आचार्य पिता शिष्या ऐसा करना तो शिष्या शिष्यान शिष्यों के प्रति अन्योपी आचार्य अन्य विधिना प्रतिपादे अनुशिष्या अन्य आचार्य लोग इस तत्व को अन्य शिष्यों के प्रति ऐसा भी प्रतिपादन ऐसे कोई हनुमंत्र क्या कविता दोनों पीताविताभ्याम परम बीज और अभिधि जो ऐसे भी कहते हैं एक तो उपदेश हो गया तत्र चक्षर का चंद्रभाग न मरो और दूसरा कहते हैं ऐसा भी अन्य आचार्य और अन्य शिष्यों के बुद्धि उपदेश करते हैं वो प्रतिपादन करते हैं इस कैसे से इसका अध्ययन करने के लिए क्या है सर्वता भी ब्रह्म बोधया इत्युक्ते आचार्य चलो भाई दूसरे लोग कैसे कैसे बोलते उसका मतलब नहीं है और आचार्य की शिष्य को किस प्रकार से बोध करा रहा है ये हमें कोई मतलब इसको बहन से बोल करा दिया सो और किसी को किसी और तरीके से बोध करा रहे हैं किसी को तत्वसी बोल दिया किसी को हम ब्रह्मास्मि कह दिया किसी को प्रज्ञान ब्रह्म कह दिया किसी को आनंद ब्रह्म कह दिया किसको कुछ किसको कुछ उपदेश देकर जैसे तैसे कर रहे हैं उसे हमारे कोई मतलब नहीं मेरे को आप जो शिष्य कहता है उसने उसका कहा था ये हमको मत पूछना किसने किसको क्या कहा लेकिन हमें सर्वथा भी किसी भी प्रकार से आप ब्रह्म ब्रह्म कहूँ आचार्य तब आचार्य का धन्य देवदार अथो अभिन्दा ये भी जो है इति सुषमो ये भी जो है हमारे पूर्व आचार्यों की आगम परंपरा से मनुष्य है और हम सुन सुना इति आगमम विदिता वेदाभ्याम विदित मन व्यक्त और अविदित मैंने अविदित इन दोनों से भी अन्य ब्रह्म यो ही ज्ञाता सैव सहा कि जो ऐसे उस ब्रह्म को जानेगा वही वो हो जाता है सैव सह वही वो ब्रह्म हो जाए वही वो आत्मा हो जाए ज्ञात ही आत्मा ज्ञात ही आत्मा है क्यों ऐसा है कभी संवाद हाँ, सूत्र सूत्र वाक्य क्षेत्र एरिया क्योंकि वह सर्वात्मक होने से अगर सर्वात्म ज्ञात हो ज्ञातंत्र अभाव विदिता विधि सर्वात्मा होने के कारण से ज्ञाता से भिन्न ज्ञातंत्र नहीं हो सकता सर्वात्म ज्ञात हो सर्वात्म भाव से ज्ञाता बन के उपस्थित व्यक्ति को सो जानने के लिए कोई दूसरी ज्ञात का न होने कारण से और विदित से भिन्न इसलिए श्वेता चंद्रभूषण बता रहे सवेद वेद्यम नजवस्याता और संसार भर का वेद्यों को जानने वाला है उसको जानने वाला कोई नहीं है न तत्व कैसे रहता न उसकी शेष ब्रह्म को आत्मा का रहता कोई नहीं वो आत्मा सबको जानता है लेकिन आत्मा को कोई नहीं जानता और जो जान लेगा तो वही हो जाएगा जो जान लेगा वो तो वही हो इति चंद्र होना श्वेताशुपनिषद उन्नीस विद्याधर्म मारे तीन भी जानिया प्रधान दो चार चौदह इति चवाज नहीं है विज्ञातारम अरे मित्री विज्ञातारम केवल विज्ञानी उस सकल वस्तुओं के विज्ञाता को तुम किस साधन से जान सकोगे अर्थात कोई साधन स्कूल से नहीं जान सकते आगे इस प्रकार विज्ञान लेकिन भी कहा गया ब्रह्म सर्वात्मा होने के कारण है विदित से भिन्न अब पीछा व्यक्तम निरूपितम अस्मात निरूपाय और जो व्यक्त होता है वही विधि जो व्यक्त होते हैं गड़बड़ादी वस्तु वे ही उदित वे विदित हुआ करते हैं इसलिए वो उन सबसे भिन्न तस्मात इसलिए ही यह उन सबसे भिन्न आया यह विदित व्यक्तम तब अन्य विषयता अल्पम सगड़े तथो अमित्य अतएव अनेक अशुद्धम अतएव लक्ष्मी ब्रह्म सिद्धम क्योंकि जो विदित हुआ करता है इस संसार में वह होता है और जो व्यक्त होता है और तब अन्य विशेषताद अल्पम सभी रोगन और सर्वोगी होगा घट गर्मी तो सभी तो जो विरुद्ध है पर विरोधी वस्तु हुआ करते हैं तो परिचिन होने के नाते निश्चित अनित्य होती है जिसलिए अनित्य है इसलिए वो अनेक है जिसलिए अनेक है इसलिए वो अशुद्ध है जिसलिए अशुद्ध है इसलिए उस ब्रह्म हुआ उस सब अशुद्ध वस्तु लक्षण ब्रह्म है ये कहना पड़ेगा कहने का मतलब ये ब्रह्म कैसा है अनंत है ये अनलप है पटारी तो व्यक्त तो वस्तु अलप है ब्रह्म अनलप है और वो सदैव ये तो अविरोध है जहाँ घट लग है वहाँ पट नहीं रह सकता लेकिन जहाँ ब्रह्म है वह घट पर प्रसार हो जाता है कोई आपत्ति ब्रह्म ही है सारे ब्रह्म ही सब है ना एक ही कपड़े पर सारे चित्र बना हैं एक ही पर दूसरे चित्र लगा सकते तो चलो चित्र का नहीं रहना है एक ब्रह्म तब अंत बना लग इधर एक सविरोध ही है कि अविरोध भी और वो अनित्य है परिचिन होने के नाते जहाँ जिसका विरोध होता है विरोधी है ना कोई ना कोई तो मार डालेगा अपने आप हो ही जाना है क्योंकि ये जैसे देखो शरीर का विरोधी कौन है जला है मृत्यु है ना ज्वर है ये सर ये शरीर के विरोधी है इसलिए शरीर क्या है सविरोधी तत्व हो गया जो शरीर संविरोधी तत्व है निश्चित तो नहीं क्योंकि जो विरोधी होंगे ज्वर चरा मृत्यु एक न दिन उसको मारना नहीं कोई ना कोई बीमारी आएगी वो तो बुरा हो जाएगा और मर जाएगा ये तीनों परम जर जरा मृत्यु ये तीनों की तरफ बड़े प्रेमी होते हैं ये एक दूसरे के बिना चलते नहीं और जिन सबसे पहले कौन आएगा चोर है शरीर से दोस्ती करने सबसे पहले ज्वर तो घुस जाता है मित्रता कर लेता है और अपना जीवन से घुस जाता है एक एक से दो दो से चार चार से छह होते जाते लेकिन हम्म? बीमारी बढ़ती जाती घटी कभी तो किसी की कभी किसी की बीमारियां घटती नहीं बढ़ती ही जाती तो ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई कर लेते बढ़ा लेते हैं तो अपने आप वो जरा का अवसर मिल जाता अब वो अपने पत्नी को बुलाता है ज्वर का पत्नी जरा है तो उसको बुलाते हुए आ जाता है उसके लिए आकांक्षा में को और ज्वर जरा दोनों मिल गए अब देवता आ मृत्यु और कहेंगे भगवान को मान जाओ जो भी हम दूसरे सुन रहा आए पहले जबरदस्ती जोर भी जबरदस्ती आया और उसने जोरा को ले जरा को भी ले आया तो वो पति पति बोलने लगे हमको इस घर से निकाल एक बेकार घर हो गया है अब अमृत देव जाएगा जर ज्वर जरा दो मैं मेरे बिना मर ये चार चलता है क्यों क्योंकि ये तीनों इस शरीर का विरोधी है तो शरीर संरोध वस्तु इसलिए तो तो वो अनित्य ये ब्रह्म अविरोध वस्तु होने के नित्य है और जो अनित्य होते हैं वो अनेक होते हैं कहा आते वही उनके अनित है नहीं नित्य है आते वही एक है और जिस दिन वो अनेक है वो अशुद्ध हुआ करते हैं और जिसने एक है इसलिए शुद्ध इसलिए तद विलक्षण तद विलक्षण में ये सारे बातों में लेना पम विलक्षण बने अनल अनल्पम अभिनंदन और जो है नित्यम अयकम पांच ब्रह्म की अस्तु चलिए अभी तब अच्छा फिर ठीक है इसका अव्यक्त मान लो व्यक्त से भिन्न है तो अव्यक्त मान लीजिए जो व्यक्त से भिन्न होता तो है थोड़ा करता है ऐसा नहीं कर सकते इसके लिए सूत्र वाक्य लाई विज्ञान जो अव्यक्त होता है वह अवश्य ज्ञान की अपेक्षा रखता है और ब्रह्म ऐसा है किसी भी प्रकार की विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता क्या करती है यदि अभिधम तद विज्ञान अपेक्षा अभी भी विज्ञान ही लोक प्रवृत्ति जो अभिध है ना वो विज्ञान की अपेक्षा करता है इसे तू तू हम दुनिया में देखा कि लोक की प्रवृत्ति किसमें हो रही है अविदित को जानने के लिए अविदित को विज्ञान करने के लिए ही लोक प्रवृत्ति होता हुआ देखा गया जो आप नहीं जानते उसको जानने के लिए तो है ना जाने हुए जानने के लिए कौन प्रयास करता है जाने हुए चीज को जानने के लिए कोई नहीं प्रयास करता आप लोग कहते हैं जिंदगी भर आगे उपनिषद सुनते रहो नहीं सुनेंगे परंतु वही कोई क्या सुनना है सुन लिया घर जान के बाद खत्म हो चल देंगे जो आदि थे उसको जानने के लिए हैं यदि आपको विदित आम से आप जानते सब जानते लेकिन भाष्य पढ़े नहीं है आपको मन में ये है ना दीदी कि हमने ये भाष्य पढ़ा नहीं है उसको पढ़ना है उसको जानना है इसलिए आपके लिए जितना पढ़ चुके व्यक्त हो गया जितना पढ़ चुके हैं वो इंद्रिय के द्वारा व्यक्त होकर विज्ञान उसका हो गया इतना नहीं पढ़े हैं उतना आपके लिए अव्यक्त है उसका विज्ञान के लिए आप प्रयासरत हैं इसलिए नियम है जो अवीत है उसका विज्ञान के हम प्रयास करते हैं अति अवीत हमेशा विज्ञान की अपेक्षा रखता है लेकिन ब्रह्म की विज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है इसलिए विज्ञान अपेक्षम तो ये जो ब्रह्म है इसको विज्ञान की अपेक्षा नहीं है अस्मात विज्ञान स्वरूप उनके तो विज्ञान के स्वरूप है हर चीनी मीठा होना चाह रहा है तो कैसा होगा बाबा और चीनी भी कोई मीठा होना चाहने लगी तो दुर्दशा हो जाएगा हम चीनी के सारी चीजों में मीठा करते नहीं जो भी चीज का मीठा करना चाहेंगे आप क्या करते हैं चीनी ना देते हैं चीनी का भाई मैं मीठा होना चाहता हूँ मेरे मेरे अंदर कुछ डालो तो क्या डालो तुम मीठा तुम नहीं हो तुम जो मीठा बनना चाहोगे जो मीठा है वो मीठा बनना चाह नहीं सकता वो कड़वा बनना बड़े चाल तो कड़वा कैसे बना कड़वा बना सकते तो मीठा स्वरूप है तो वो स्वरूप ही मीठा इसीलिए कहते हैं उसी प्रकार यहाँ पर जो जिस स्वरूप का होता है उसको स्वस्वरूप के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं होती जिसमें ब्रह्म विज्ञान स्वरूप ही है इसलिए सब क्या अंतर की अपेक्षा नहीं होती न जो स्वदेव नहीं स्वरूपम तत्न अन्य तो जिस वस्तु का जो स्वरूप होता है वह वस्तु स्व से भिन्न के पर स्वरूप की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता न जो स्वदैव अपेक्षा न स्व की अपेक्षा कर लो चीनी पे बना फिर दूसरा चीनी मिला दो मीठा हो जाएगा ऐसा होगा एक चीनी को मिठा कर दूसरे चीनी को मिलाते हो कभी कभी नहीं होता कुछ चीनी मीठा रूप ही है इधर दूसरे मीठा के मिलाने की जरूरत नहीं है इसलिए स्वतः की अपेक्षा नहीं परापा भी अपेक्षा नहीं स्वतः भी अपेक्षा अनपेक्ष सिद्धता अगला हेतु में सूत्र अनपेक्ष सिद्धता क्योंकि जो वस्तु सिद्ध करता है स्वरूप जो सिद्ध है जिस वस्तु का जो स्वरूप सिद्ध है वह स्वरूप सिद्धि के लिए वह दूसरे की अपेक्षा नहीं कर सकता प्रणी का स्वरूप अभिव्यक्त प्रकाशांतर मन तो अपेक्षित है स्वतुवा क्योंकि जो दीपक है वह पता अपनी अभिव्यक्ति के लिए न तो प्रकाशांतर की अपेक्षा करता है और स्व प्रकाशन के लिए स्व की अपेक्षा भी नहीं करता किंतु प्रकाशी स्वरूप ही होता है यदि अनपेक्षम तत्व सिद्धम इनकी सामान्य नियम है जो अनपेक्षा करता है वह वस्तु सिद्ध हुआ करता है प्रकाशात्मक प्रदीप से अपेक्षित प्रकाशात्मक प्रदीप जो है प्रकाशात्मक होने के नाते यदि उसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अपेक्षा की कल्पना भी करता है तो वह अपेक्षा अनर्थक ही होगा स्वरूप व्यक्ति में स्वरूप ही अपेक्षा स्व के प्रति स्वापेक्षा स्वस्वरूप अभिव्यक्ति के लिए स्वयं की अपेक्षा करने लग जाए वह ऐसा तो हो नहीं सकता यदि अपेक्षा करे भी तो वो अनर्थक ही माना जाएगा क्यों प्रकाश विशेष अभाव प्रकाश का विशेष फर्क मिल जाएगी स्व के प्रकाशन के लिए स्व को अपेक्षा कर दोगी कर भी या मान लो उसकी अपेक्षा करने मात्र से कोई विशेषता आ जाएगी कुछ प्रकाशों में फर्क पड़ेगा जिस प्रकाश की सहायता तो से उसी प्रकाश को आप देख रहे हैं मान लीजिए ये बदल प्रकाश से तो घड़े को आप देख रहे हैं प्रकाश की सहायता से देव को देख रहे हैं वहां पर फर्क है जिससे देख रहे हैं उसे वो अलग है और वो अप्रकाश रूप है और उसकी अपेक्षा से कई लक्षण का हम उसमें अनुभव करते हैं लेकिन प्रकाश से आप प्रकाश नहीं देखिएगा तो लक्षणता पैदा हो जाए उस प्रकाश में जैसे प्रकाश की अपेक्षा से घटनी लक्षणता थी और स्व की अपेक्षा से स्व में देख लिया भी गया तो भी उस प्रकार का बढ़ेगा ना घटेगा प्रकाश से प्रकाश को देखिए आपने तो बढ़ेगा क्या न घटेगा वो वैसे ठीक है इसीलिए कहते कि देखो दीप प्रकाशात्मक अपेक्षित अपनी यदि अपेक्षा कर भी है तो भी वह अपेक्षा उसका अनर्थक ही होगा क्यों क्योंकि प्रकाश से विशेष अभाव उसका अपने स्वरूप में कोई विशेष अंतर पड़ता है हम अन्य साधन की अपेक्षा करते क्यों है जिस पर लाने के तो साधन की अपेक्षा होती है हम घट को समय प्रकाश से जान नहीं पाए तो प्रकाश के उसको देखा सब तो लोगों से जान लिया विशेषता को लाने के लिए ही प्रकाश की सहायता ली थी अन्य प्रकाश को देखने के लिए हम दूसरा अन्य प्रकाश है उसकी खुदी देखने की अपेक्षा भी कर लेते हैं तभी हम अपेक्षा मानेंगे जब उस प्रकाश में तो विशेष उत्पन्न है ऐसा कोई विशेष उत्पन्न नहीं होता अब यह स्व के प्रति स्व के अपेक्षा भी नहीं तो स्व के प्रति उत्तर की अपेक्षा भी नहीं सिद्ध हो गया यही प्रदीप व्यक्त प्रदीप प्रकाश अर्थवान भवदी के प्रदीप के स्वरूपाभिव्यक्ति में प्रदीप प्रकाश कोई प्रयोजन वाला नहीं होता न बच्चे मात्र विज्ञान मस्ती लेकिन आत्मा से कहीं अन्यत्र विज्ञान नाम का चीज नहीं है ये स्वरूप विज्ञान अपेक्षित है जिसके कारण आप स्वरूप विज्ञान में भी उसको साधन में अपेक्षा करो ऐसा हो नहीं सकता विरोधी विचिन्न अन्य अगला सूत्र विरोधी विचिन्न अन्यता नान्यता चेत नान्यता न अन्यता ऐसा ना चेत नान्यता पहले भी नहीं का विरोध है चेत अरे बात के तो विरुद्ध हो गया मामला आपका बात जो कथन है पर विरुद्ध बात कर रहे हो आप इसीलिए तब बोले न ऐसा नहीं हो सकता क्यों तो, अन्य सर्व विज्ञान विज्ञान सर्वत्ता विज्ञानांतरम नापेक्षित असम पूर्व पक्षी कहता है सर्व विज्ञान में विज्ञान स्वरूप होने के नाते विज्ञान अंदर की अपेक्षा नहीं है ऐसा जो आप कहते हो यह अत्यंत असत मामला है क्यों दृश्य दे ही विपरीत ज्ञान मात्र समय ज्ञान न जाना भी आत्मा मेरी संसार में क्या गया फिर विपरीत ज्ञान भी होता है विज्ञान रूप ही था वो तो आत्मा का विपरीत ज्ञान के कैसे जो प्रकाश स्वरूप है तो अंदर में समझ में आ गया जो प्रकाश है उसको देख करके क्या आप कहोगे अंधकार है क्योंकि वो दीपक प्रकाश स्वरूप होने के नाते दीपक को लेकर कभी आप ये नहीं कहोगे कि दीपक अंधकार है कभी आपको विपरीत ज्ञान नहीं क्यों क्योंकि दीपक प्रकाश स्वरूप और ये ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है तो उसमें हमें विपरीत ज्ञान नहीं होना चाहिए दीपक प्रकाश स्वरूप था उसको मैंने देखा दीपक तो देखने के बाद क्या उस दीपक में प्रकाश के अभाव का हो रहा है उनको होगा क्या कभी क्योंकि उसका सोने क्या नाम है जब भी मैं देखूंगी दीपक को देखूंगा मुझे क्या दिखाई देगा वहां प्रकाश ही दिखाई देगा अंधकार नहीं क्योंकि दीपक का स्वरूप जब भी मैं अग्नि को छूंगा तो मुझे कभी ठंडी नहीं लगेगी लेकिन अग्नि को स्पर्श क्यों अग्नि का स्वरूप गर्म है तो गर्म का विपरीत ठंडापन उसमें कभी हम नहीं देख सकते अग्नि में कभी आपको जो है उसका स्वरूप में उष्णता का विपरीत शीतता का अनुभव नहीं इसे सामान्य नियम है जो जिसको स्वरूप होगा उस वस्तु को मैं अनुभव करूंगा उसके स्वरूप अनुसार है उसका अनुभव होगा उसका विपरीत अनुभव नहीं होगा समझना पड़ेगा उसके अगर हम चलते हैं आप ब्रह्म देख लीजिए आप लेगा ब्रह्म विज्ञान स्वरूप लेकिन मैं ब्रह्म को देखना चाहता हूँ आत्मा का अनुभव करता हूँ मेरे क्या तो साथ है ब्रह्म ज्ञान है इसीलिए आत्मा का स्वरूप विज्ञान नहीं हो सकता यदि स्वरूप विज्ञान होता फिर हमें विपरीत भान नहीं होना चाहिए मेरे पक्ष सुंदर मेरा मेरे पीछे दृष्टि तो देवी विपरीत ज्ञान समय ज्ञान न जाना और ऐसा भी दृढ़ निश्चय कर लेता अरे मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ न जाना मैं आत्मा न मिली मैं आत्मा को बिल्कुल नहीं जानता हूँ आप जो ब्रह्म कहते हैं ऐसा वो ही नहीं करता इस तरह से बोल देते है तो वो स्वरूप ही विज्ञान स्वरूप होता है ऐसा कोई बोल सकता है वैसे आत्मा को जानता ही नहीं ज्ञान रूप हो गया उसका ज्ञान तो नहीं होना चाहिए ना तो ब्रह्म के बारे में अज्ञान नहीं होना है थोड़ा ज्ञान या ज्यादा ज्ञान जैसे दीपक में तो थोड़ा प्रकाश है ज्यादा प्रकाश है हो जाता है तेल कम हो रहा होगा इधर प्रकाश घट रहे बोलते हैं लेकिन कम बीजी की बात हो सकती विज्ञान में बिल्कुल का है ही बोल दिया याद ही नहीं है न जाना में ऐसे क्यों ये विरोध भान होने से ज्ञापन करता है कि आत्मा का स्वरूप विज्ञान नहीं है एक मेरे कुछ पकड़ लिया कह रहा है विपरीत ज्ञान आदमी ही वृक्षक है कैसा विपरीत ज्ञान होता है उसको समझाया सम्यक ज्ञान से न जाना मैं आत्मा मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ वो सम्यक ज्ञान क्या है विपरीत ज्ञान आत्मा का विषय ऐसा विरुद्ध ज्ञान होने के कारण ज्ञापन होता है आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं है तत्व आत्म वही एतम वैतम आत्मान विदित्वा सोचा ही नहीं आप कैसे कह रहे विज्ञान की अपेक्षा नहीं है उसको विज्ञान की अपेक्षा है सोचा कह रही है तो समझ इस वाक्य के आधार पर तो उसने ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म को जानने के लिए विज्ञान की अपेक्षा हुई कि नहीं तत्व वाक्य जन्य विज्ञान की अपेक्षा हुई ब्रह्म को जानने के लिए तो आपने कैसे कर दिया विज्ञान अपेक्षा इसीलिए ब्रह्म को अग्नि मिलना चाहिए अविदित सिद्धि नहीं क्योंकि जब भी अपेक्षा रखता है तो अविदित होता है यही अपने जितने ब्रह्म को भी विज्ञान की अपेक्षा है अतएव ब्रह्म भी को टीम में डालना चाहिए अविंदारण्य मेरा आत्मानंद अवेद मैं आत्मा को ही जाना ऐसा घटन नहीं वे नहीं होता घटन मेरा अवेद कानूनी प्रयोग कर देते आप उसी प्रकार से आत्मा ने मेरे अनेक में घट को जाना मैं आत्मा को जाना जाने वाला मैं अलग हूँ जाना वो आत्मा अलग है और मैंने उस आत्मा को अपने विज्ञान से जान लिया हूँ अतएव आत्मा विज्ञान की अपेक्षा नहीं हुआ एकदम वही तम आत्मान एकदम वही एकदम तम तम एकदम आत्मान वह यह जो पूर्वोक्त आत्मा को जान करके जानने का विषय हुआ ना घट को जान के आप करते हैं ना काम वैसे ही आत्मा को जान करके जब आप कह रहे हो इसका अर्थ मतलब विज्ञान का विषय आत्मा है अभी आत्मा विज्ञान सापेक्ष होने से अविदित कोटि का मामला है ग्यारह के छह आठ सोलह दूसरा बदलने के एक चार दस तीसरे वाला बदलने के तीन पांच एक सर्वत्र श्रुति आत्मविज्ञान विज्ञान आंध्र अपेक्षक दृश्य इन सभी श्रुतियों ने लिया इन सभी श्रुतियों में सर्वत्र श्रुतिशु आत्मविज्ञान विज्ञान दृश्यते एक आत्मा का ज्ञान करने के लिए अनविज्ञानांतर की अपेक्षा करनी पड़ी है अस्मत प्रत्यक्ष श्रुति विरोधा तीसरे प्रत्यक्ष श्रुति लोक का अनुभव उसका विरुद्ध प्रत्यक्ष और श्रुति प्रत्यक्ष ने जब पहले बताया लोक है ना विपरीत विज्ञान होना दृश्य विज्ञान लोक में जो प्रसिद्धि तो प्रत्यक्ष हो गया और श्रुति इन दोनों के साथ विरोध होने के कारण से आपके विज्ञान अनपेक्षित ब्रह्म विज्ञान रूपम देगा ये सब आपका जो व्याख्यान है इसलिए अभिदित से भिन्न आपने क्या वो गलत है अस्मात अन्यो ही सब आत्मा जन्ना अन्यता है ना कोई सूत्र की व्याख्या था यंगा अन्यता अन्यता प्रेक्षा अन्य ही सफात भाई अवधित से अन्य ही है भले आपको ऐसे लग रहा है व्यवहार श्रुतियों के आधार पर लोक के आधार पर तो भ्रांति किसी सीधा बोल देते हुए भ्रांति है श्रुति खुद भी कह रही है लेकिन वही श्रुति ये भी कहती है ना न बंधु न मूछा वही श्रुति भी कह रही है विचार हमारे तेरे विचार में तो भूल गए क्या अभी तो सुनाया था जो शब्द यही करे होगी तो वही बात भी करनी है एक यथार्थ भगवान को सुनते नहीं एक को अनुवाद करो दूसरे को यथार्थ और ये एक अज्ञान का व्यवहार है विपरीत बाहर आना उसी का अनुवाद कर रही है श्रुति अतएव यह श्रुति अनिवार्य सूत्र का प्रामाणिक नहीं होता है और प्रामाणिक कौन होगा विज्ञाकरण में नहीं जानिए अध्ययन आना जो लोकानुवाद इसलिए करना पड़ रहा है ना श्रुति ये लोक का अनुवाद क्यों करती है नहीं करे सीधा कहेगा आपको पकड़ नहीं सकते इसलिए आपको पहले उन शब्दों को बोलना पड़ेगा जो आपके अनुभव का विषय है फिर वहां से आप आगे बढ़ाएंगे आप ऐसा समझ रहे हो ना एक चीज को जान रहे हो ना तो इसी प्रकार ये भी ऐसे जानो जब ऐसे जानने लगोगे तुम्हारा अनुभव ऐसे हो जाएगा इधर लाल बेसुखम मस्ती करके हमारे तो जाने दुकान पर ऐसा ये गए ये सारा अल्पों को ही बताया फिर अमल में भी गए तो तरीका यही है शुरू वहीं से कर रहे जहाँ आप हैं वही आदमी माना हरिद्वार में है तो कल जब दिल्ली पूछ जाओ ऐसे कैसे पूछेगा भाई इसको वहीं से शुरू करना है वो हरिद्वार से चले जाओ बोलिए तुम मुजफ्फरनगर से जाओ मुजफ्फरनगर से जाओ कैसे जाओगे मैं तो हरिद्वार में हूँ मैं मुजफ्फरनगर से कैसे जा सकता हूँ तो मुजफ्फरनगर में ट्रेन चढ़ रहा हरिद्वार में चढ़ रहा है दिल्ली पहुंच जाना बुद्धि तो पहुंचेगा अरे हरिद्वार में चढ़ेगा तो ना मुझे होटल में आएगा या तो हरिद्वार से कोई कोई गाड़ी चढ़े मुझको तो में आना पड़ेगा उसको वहां से वहां पहुंचाओगे फिर वहां से गाड़ी चढ़ के वहां पहुंचेगा इसलिए जो जहां है उसको वो साधन दिखाओ किस कारण से वो आगे बढ़ेगा लक्ष्य और सब जो पूछने वाले चेहरे कितने होते कैसे होते मतलब नहीं दिया सब अज्ञानी हो मूर्खी तो सुन रहे हैं इसे तो गुरु से पूछ रहे हैं इसे गुरु क्या करेगा तो यही बोलेगा गुरु क्या बोलेगा आत्मा को जानो यही बोलेगा जिज्ञास जानने की इच्छा करो उस आत्मा को चिंतन करो आत्मा को चिंतन को विषय नहीं करता है तो नहीं होगा चिंतन से सकते नहीं जानता तो कहते नहीं मनन मनन कर आत्मा के बारे में सुनो क्या सुनोगा आत्मा के बारे में कौन सुनेगा जो सुनने वाले का ही सुनना यही बात नहीं का सोचने का ही सुन तो वही है लेकिन वो तो अंतिम स्थिति में है ना हाँ, सुनने का भी यही कहना पड़ेगा अरे सुनो इसका आत्मा को देखो <clears throat> सब घटिया से तो दिखता नहीं है ना हाँ। अब थोड़ा कल आ गया तेरे इसका मतलब थोड़ा वक्त तुम्हें खूब रहा महाराज हमें बहुत प्रयास किया बहुत ढूंढा न अंदर न बाहर कोई भी दिखाई पड़ा अच्छा कोई बात नहीं बेटा तो कोई तरीका है ना तो इसलिए यहां पर इस तरह का प्रयोग जो हुआ है तो वो गलत नहीं है अरे वीर और आदित्य दोनों से वीर ब्रह्म आत्मा बुद्धि कार्य करण संघात अभिमान संताना हाँ? अविच्छेद लक्षण अविवेकात्मक उद्योगास प्रदान चक्षुराधिकरण नित्य चित स्वरूप आत्मा अंत यत्य विज्ञान मनोभाष है बुद्धियाधिकारिक अनुसंघात के अभिमान की संतान अख अविच्छेद बुद्धियाधिकारी का अनुसंघात में अहम करके जो अभिमान चल रहा है इस अभिमान की धारा का विच्छेद नहीं हुआ है आत्मा और ये जो कहता है धारा अविवेक तो जान रहे मैं सबको जानता हूँ मैं घर को जानता हूँ मैं सबको को जानता हूँ मैं आत्मा को भी जानूंगा अरे जानो आत्मा को जानूंगा वैसे मैं घर को जान सकता हूँ पद को जान सकता हूँ ऐसे ही ये शुरू शुरू होता है हम जब आए शास्त्रों के पढ़ेंगे सोच कर गला शास्त्र में आए फिर कहे क्या करना चाहते हो सुनना चाहते क्या पढ़ोगे जवाब पढ़ा देंगे जो यहाँ लोग रहते हैं अच्छा लोग पढ़ाएंगे कोई पुस्तक का नाम दो फिर मैं कोई पुस्तक का नाम नहीं जानता कोई सी पुस्तक देख के मुझे देख हमारा मंदिर में इच्छा नहीं है ये समझ आप कमरा मिलेगा सारी आगे का कमरा मिलेगा जो कहते क्या है जब पुस्तक का नाम तुमको जानते नहीं मैंने कहा जिन पुस्तक को मैं पढ़ने आया हूँ शायद उस पुस्तक को नाम नहीं और आप जानते हाँ, कहा मैं मेरे को पढ़ना मैं अपने आप को पढ़ना अपने आप को मेरे क्या हूँ मैं अपने आप को पढ़ना चाहता हूँ मेरा आत्मा पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ तो मेरी चाल मुझे जाना और फिर क्या हुआ पढ़ गया मंगेश्वर जी बैठे नार जी हमें पता नहीं फिर ले जाना चाहिए क्या पता तो वो भी लिखते हैं उनका पीछे नहीं आदमी हमें समझ गए क्योंकि तो मैं हूँ मुझे आपके हृदय विज्ञान को पता नहीं है कुछ पढ़ना चाहिए लघु पढ़ो मैं उनसे समझ में कोई लघु नाम की पुस्तक है महाराज नहीं पढ़ा मैं गुरु जरूर देखा हूँ पर लघु नहीं पढ़ा तो क्या कह रहा है मेरे लघु में गुरु लघु है गुरु गुरु तो मैदान पर लघु में पढ़ा नहीं तो हम आपसे अगर कहने लगे जाओ पुस्तक खरीद के लाने के सिद्धांत करो अरे modern physics atomic physics advance physics और अफेयर फिजिक्स और इतने जो मोटे मोटे ग्रह को हम तो चार पांच दिनों उड़ा खत्म करेंगे तो क्या ढाई सौ पंद्रह जब पंद्रह रहे तो पचास साल देर खा रात में सही कहीं तो मैं निकल गया कोई नौ महीना पूरा निकाल वो पढ़ने में सही करें तो हत्या तो तुम बताओ इतना सब कुछ क्या होता है इसलिए ये चीज ऐसा है कि देखने में ऐसा है इतना सूक्ष्म है दूसरे तो पकड़ में नहीं आता दूसरे अज्ञानी तो यही कहेगा मैं उसको जानूंगा अविवेक अविवेक आत्मा को बुद्धि और भाष प्रधान बुद्धि के द्वारा भाष करना यह प्रधान स्वभाव जिसका चक्षुराधिकरण हो चक्षुरादि है कर्ण जिसका नित्य चित स्वरूप आत्मा अंतस्वान लेकिन वास्तव में क्या है नित्य चित स्वरूप आत्मा ही इसका अंत स्थिर स्वरूप स्थिर इसका अबाध्य स्वरूप क्या है नित्य चितात्म स्वरूप ही इसका स्वरूप यत्र अनित्य विज्ञान अवभाषित है जिसमें सभी अनित्य विज्ञान भी अवभाषित है वह सूचना का उदाहरण के लिए बढ़िया सुंदर है यद वेदितुर अन्य तद अभिनियम चाहिए ध्वनि गति जो वेदिता है उससे जो गुण हुआ करेगा वह तो विदित भी होता है और अविदित भी हुआ करता है तो विदित्व विदित्व निषेध है ना विदित्व और अविदित्व का निषेध के द्वारा निषेध है ना संतान अनार्य भव परंपरा प्राप्ति का ये कह रहे ना कि बुद्धियादो कार्यकरण संघात यह आत्मा को बुद्धियादो कार्यकर्ण संघात हमारे पुराने पुस्तक टाइम स्पष्ट है हम्म। न कस्मार इत्यादि न है की करनी चाहिए तो तो हमारे पुस्तक में बुद्धियादो संघात यह आत्मा अभिमान संतान बुद्धियादि कार्यकरण संघात में जो व्यक्ति आत्माभिमान यही आत्मा है ऐसी अभिमान करता हुआ उसकी विचार चलते रहता संताभिमान संतान अनादि भव परंपरा प्राप्त जो कि अनादिकालीन से जन्म होकर के परंपरा प्राप्त तस्य अविच्छेद रूपम मध्य लक्षण तो अविच्छेद